छांदोग्य परिषद द्वितीय अध्याय के तेईसवें खंड के प्रथम मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था सारे उपनिषदों का तात्पर्य अद्वैत में है यहां तक की व्याख्या हो गई थी आगे टीका में कहते हैं भेदालंबन कर्म विधि विरोधात न अद्वैत शास्त्रों स्वार्थ मानव संगते पूर्ववादी शंका करता है मैंने ज्ञान कर्म समुच्चयवादी वृत्तिकार आदि की शंका है कि भेदालंबन कर्म वृद्धि भेद को आलंबन करके जो कर्म का विधान होता है कर्ता आदि भेद कर्ता संप्रदान अधिकरण आदि भेद को लेकर के कर्म का विधान है स्थिति भेदालंबन कर्म भी भेद के आलंबन करके होने वाला कर्म का विधान का विरोध होता है अगर अद्वैत में प्रामाण्य आ जाए तो भेद को सहारा लेकर के होने वाले कर्म हो नहीं पाएंगे द्वैत को लेकर के होने वाले कर्म हो नहीं पाएंगे ये कहा भेदावलंबन कर्म विधि विरोधार भेद के सहारे से होने वाला जो कर्म है उन कर्म विधि कर्म का विधान करने वाला वाक्य का विरोध होगा अद्वैत वाक्य के साथ इसलिए कि अद्वैत शास्त्र स्वार्थ न मानम अद्वैत शास्त्र जितने स्वार्थ में प्रामाणिक नहीं मानना होगा नहीं तो कर्म विधान व्यर्थ हो जाएगा कर्म का विधान करने वाले शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे द्वैत को आवलंबन करके करते हैं वो सारे तो इसलिए उसके विरोध होने से अद्वैत शास्त्र में स्वार्थ में अद्वैत शास्त्र प्रमाण प्रमाण नहीं कई शंका उठाता है पूर्वाधिक कर्म विधि नाम अप्रामाण्य प्रसंग चेत पूर्वाधिक शंका अगर अद्वैत में तात्पर्य स्तृति होगा तो कर्म का विधान करने वाले जो वाक्य हैं ये जेता जो वाक्य अप्रामाणिक हो जाएंगे क्यों वो भेद के सहारे से करते हैं कर्ता कर्म संप्रदान आदि भेद को लेकर के कर्म का विधान करते हैं और अभेद यदि हो तो ये वाक्य व्यर्थ हो जाएंगे अप्रमाण होगा अद्वैत में यदि तात्पर्य मानेंगे तो ऐसा समझा है कर्म विधि नाम अप्रामाण्य प्रसंग कर्म का विधान करने वाले जो भेद वाक्य हैं उसमें अप्रामाण्य का प्रसंग आ जाएगा अद्वैत में तात्पर्य मानने पर यह शंका आई तो सिद्धांत का नाम हाँ। वो कर्म का विधान करने वाला है जिसका भेद भेद बुद्धि नष्ट नहीं हुई उसके लिए कर्म का विधान है जिसकी भेद बुद्धि नष्ट हो गई उसके लिए कर्म का विधान नहीं है इसलिए कोई विरोध नहीं आता द्वैत और अद्वैत में उत्तर देते हैं ये उत्तर देते हैं कि अनुपमर्दित भेद प्रत्ययवत पुरुष विषय ब्राह्मण उपत्य स्वप्नादि प्रत्यय प्राप्त दृष्टांत के साथ बोलते हैं जैसे स्वप्न स्वप्न में जो ज्ञान होता है आपको भेद बुद्धि को लेकर के होता है उसको सत्य माना जाता है प्रामाण्य माना जाता है तब तक जगने के पहले जगने के बाद अप्रामाण्य होगा स्वप्न की जो बुद्धि है ज्ञान जो होगा जब तक जगा नहीं वो प्रामाण्य है इसी जैसा है उसी प्रकार अनुपमार्थित भेद प्रत्यवत जिसका भेद बुद्धि नष्ट नहीं हुई ऐसे पुरुष है जो मनुष्य है भेद बुद्धि जिसका नष्ट नहीं है अनुपमर्दित भेद प्रत्यवत माने उपमर्दित नहीं हुआ नष्ट नाश नहीं हुई भेद बुद्धि जिसके ऐसा व्यक्ति भेद वाला बुद्धि वाला पुरुष के विषय में प्रामाण्य हो जाएगा जिसको अभी अद्वैत में पहुंचा नहीं है उसके लिए वो श्रुतियां प्रामाण्य हो जाएगी भेद परक श्रुति ये कहा स्वप्नादि प्रत्यय प्रबोधा जैसे जगने से पहले पहले तक स्वप्नादि बुद्धि सत्य होती है जगने के बाद नहीं होती इसी प्रकार यहां भी अद्वैत में पहुंचने के पूर्व अवस्था में वो प्रामाण्य है वो कर्म विधि ना प्रामाण्य हो जाएगा प्रमाण हो जाएगा तब तक ये कहा पूर्वाधि कहता विवेकी नाम अगरनाथ कर्म विधि प्रामाण्य उच्छेद जब ज्ञानी नहीं करेगा कर्म तो बाकी लोग भी देखा देखी भी छोड़ देंगे फिर वही आपत्ति तो वही आएगी अगर ज्ञानी कर्म नहीं करता है अद्वैत में बैठ गया तो सभी उसके आचरण करेंगे तो कर्म का विधान करने वाला बाकी अप्रामाणिक अप्रामणिक हो जाएगा वैसे वो कई शंका पूर्वादी विवेकी नाम अकर्णाद ज्ञानियों के द्वारा कर्म न करने के कारण कर्म विधि प्रामाण्य उच्छेद कर्म का विधान करने वाले जो वाक्य में प्रामाण्य था उसमें उच्छेद हो जाएगा विनाश हो जाएगा ज्ञानी नहीं करेगा तो सब छोड़ देंगे यदि सिद्धांत का न ज्ञानी के कर्म छोड़ने से अन्य कर्म नहीं छोड़ते कैसे काम्य विधि अनुच्छेद दर्शनार्थ कहते हैं काम्य काम्य कर्म का विधान जो होता है ना उच्छेद नहीं होता है किसी ने छोड़ दिया काम्य कर्म नहीं करना चाहिए करके छोड़ा तो सब छोड़ेंगे क्या नहीं छोड़ेंगे ये उत्तर देते हैं काम्य विधि अनुच्छेद दर्शनार्थ काम्य परक्ष विधान करने वाला वाक्य के उच्छेद नहीं होता क्यों तो इसी की व्याख्या है न ही कामात्मता न प्रशस्ता इतम विज्ञान भी काम्यानी कर्माणी नानुष्ठीयते अनुष्ठीयते काम्य कर्म विधेय उचित अनुष्ठीयते एवं भी इति ऐसा कहा नहीं कोई विवेकी को ऐसा ज्ञान हो गया ये काम रूप अच्छा नहीं है कर्म काम में कर्म अच्छा नहीं है ऐसे बुद्धि बन गई नहीं कामात्मता न प्रशस्ता कामात्मता प्रशस्त नहीं है काम रूप यदि प्रशस्ता इति एवं विज्ञान पद भी ऐसे जानने वाले व्यक्ति के द्वारा काम में कर्म अच्छा नहीं है ऐसा सोच करके विज्ञान बोध काम्यानी कर्माणी न अनुष्ठीयंत काम्य कर्म नहीं किया जाता है यदि ऐसा थी काम्य कर्म विधान न उच्छेद पूर्व ने कहा काम्य कर्म विधान का फिर भी उच्छेद नहीं होता क्यों अनुष्ठीयंते वो काम भी जो कामना के वशीभूत हुई है तब तक स्वर्ग आदि वो तो उनके द्वारा तो किया ही जाता है विवेकी किसी व्यक्ति को काम्य कर्म छोड़ दिया तो करने पर भी जो कामी पुरुष है उनके द्वारा तो होगा ही काम्य कर्म कहाँ छूटेगा ठीक इसी प्रकार तथा ब्रह्म संस्थैग ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित हो गए जो लोग अद्वैत में पहुंचे हुए लोग हैं उसी प्रकार ब्रह्म संस्थैर ब्रह्मविद भी जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं ब्रह्म में सम्यक प्रकार से स्थित हैं ऐसे ब्रह्मवेत्ता लोगों के द्वारा न अनुच्छेद कर्माणी उनके द्वारा कर्म नहीं किया जाता है तो न तद विधायक उच्छेद कर्म विधि का उच्छेद नहीं होता और ब्रह्म विधि फिर अनुसेंद देवे जो ब्रह्मवेत्ता नहीं है उनके द्वारा अनुसार होगा ही उसका कौन रोकेगा रोक नहीं सकता ठीक है ठीक है यथा स्वप्न प्रत्यय गंधर्व नगरादि प्रत्यय प्राग तत्व ज्ञानाथ अज्ञम पुरुषम अधिकृत प्रमाण जैसे अज्ञानी के लिए प्रमाण होता है स्वप्न के जो भी वस्तु होते हैं प्रमाण होता है मानता है सत्य मानता है जगने से पहले पहले तक जगेगा तब झूठा मानेगा उसको उस काल में प्रमाण है यथा स्वप्न प्रत्यय स्वप्न बुद्धि गंधर्व नगर आदि प्रत्यय गंधर्व नगर आदि बादल का ऐसा बनता है तो नगर जैसा लगता है गंधर्व नगर कहते हैं इत्यादि जो भी होता है ये बुद्धि प्राग तत्व ज्ञान वास्तव में वस्तु को समझने के पहले पहले तक क्या होता है तत्व ज्ञान प्राग तत्व ज्ञान अज्ञान पुरुषम अधिकृत प्रमाण अज्ञानी पुरुष वो वस्तु का स्वरूप जब तक नहीं जानता तब तक अज्ञानी व्यक्ति को लेकर के प्रमाण माना जाता है वो उसको प्रमाण मान के चलता है स्वप्न में स्वप्न बुद्धि प्रमाणिक है तथा उसी प्रकार कर्म विधि नाम अभी अभिदुषी पुरुषे है जो कर्म का विधान है जो अज्ञानी व्यक्ति है उसमें कर्म विधि नाम अपनी अभिदुषी पुरुषे अज्ञानी व्यक्ति में प्रामाण्य संभवाद प्रामाण्य है अज्ञानी करेगा कर्म प्रमाण मान करके ज्ञानी ने छोड़ दिया तो अज्ञानी कर्म नहीं छोड़ता करेगा अभी अभिषि पुरुष प्रामाण्य समवाद न अद्वैत शास्त्र से तद विरोध अस्थिका इसलिए अद्वैत शास्त्र का कर्म विधि परक वाक्य के साथ कोई विरोध नहीं है क्यों अधिकारी अलग अलग है अद्वैत का अधिकारी विवेकी है और कर्मों का अधिकारी कामी है अज्ञानी है भिन्न भिन्न अधिकारी में विरोध नहीं ये कहा इति परिहरती ये कहा न अनुपमर्दित इत्यादि कहा ये कहा था न अनुपमर्दित भेद प्रत्यवत पुरुष प्रामाण्य उपत्य जिसका भेद बुद्धि नष्ट नहीं हुई है ऐसे व्यक्ति की ऐसे व्यक्ति को विषय करके कर्म विधान कर्म विधि कर्म का विधान करने वाले वाक्य माना प्रामाण्य होगा जैसे स्वप्न आदि प्रत्यय को प्राप्त दृष्टान दिया जैसे स्वप्न की बुद्धि होती है जगने से पहले पहले तक प्रामाणिक है तो यहां भी अज्ञानी अभी जगह नहीं है तब तक वो प्रमाण मान के करेगा कर्म कांड को अद्वैत में पहुंचा हुआ व्यक्ति के लिए कर्म नहीं है अधिकारी भिन्न है ये कहना चाहते हैं ठीक कहना चाहते हैं पूर्वादि की शंका है यद्यता थे श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना स्मृत बड़े लोग जैसे जैसे आचरण करते हैं छोटे लोग देखा देखी में वैसे करता है कहा तो यदि विवेकी व्यक्ति कर्म छोड़ देगा तो अज्ञानी भी छोड़ देगा ज्ञानी छोड़ देगा तो अज्ञानी भी छोड़ेगा जैसे बड़े लोगों का आचरण वैसे छोटे का आचरण होता है तो ऐसा करने पर कर्म का विधान करने वाला वाक्य फिर अप्रामाणिक हो जाएगा दूसरी तरह से भूल जाएगा यद्यदा चरती श्रेष्ठ तत्व देवे तरोजना ऐसा गीता के तृतीय अध्ययन कहा है इति स्मृति तत्वदर्शी नाम कर्मभ्य सकाशात उग्रमी जो तत्वदर्शी आत्मदर्शी व्यक्ति हैं अद्वैत में पहुंचे हुए उनका कर्मों के द्वारा उपराम हो जाने पर कर्म से उपराम लेने पर कर्म त्याग देने पर उपरमेशति कर्म त्यागने पर अन्य भी उपरक्षक और भी तो उपरमण करके उपराम हो जाएंगे सब कर्म छोड़ देंगे सब तदाच कर्म विधि तार तादवस्थम फिर कर्म का विधान करने वाले वाक्य के साथ में विरोध जैसा का तैसे बना क्यों विवेकी कर्म नहीं करेंगे तो अज्ञानी भी नहीं करेगा तो कर्म का विधान करने वाले वाक्य में अप्रामाण्य वही विरोध आ गया ये शंका पूर्वादी की शंका है विवेकी नाम ये कहा विवेकी नाम अटलनाथ कर्म विधि प्रामाण्य उच्छेद ज्ञानियों के कर्म न करने के कारण से कर्म का विधान करने वाले वाक्य में प्रामाण्य था उसका उच्छेद होगा विनाश होगा ऐसी शंका करें तो न कहेंगे सिद्धांत ठीक है प्रकृति सत्वात लोकस्य नाशो लोक प्रवृत्ति में अनुवर्तित है कहते हैं देखो संसार में जितने भी है अपने स्वभाव के अधीन होकर के चलते हैं प्रकृति मान स्वभाव अपना अपना नेचर स्वभाव प्रकृति पर वसत्व आधार व्यक्ति अपने स्वभाव के अधीन है स्वभाव के अधीन होने के कारण जो कामी व्यक्ति होगा कर्म करके ही रहेगा हाँ, ज्ञानी ने कर्म छोड़ दिया तो कामी व्यक्ति कर्म नहीं छोड़ेगा क्यों प्रकृति के अधीन ही सब ये कहते हैं प्रकृति पर सत्वात लोकस्य लोक माने अज्ञानी जन जो भी हैं प्रकृति का अधीन है नाशव विवेकी प्रकृति मनवर्धित है जो अज्ञ व्यक्ति होगा वह विवेकी के प्रवृत्ति का अनुवर्तन नहीं करता विवेकी जैसे जैसे आचरण कर रहा वैसे वो नहीं करेगा वो अद्वैत में बैठा है तो ये अद्वैत में नहीं तो कर्म करेगा अज्ञान असौ मान लोक विवेक की प्रवृत्ति न अनुवर्तते विवेकी की प्रवृत्ति का अनुवर्तन नहीं करता क्यों तो कहा गीता के तृतीय अध्याय में कहा है प्रकृति में आंति भूतहानि निग्रह किम करी सती सदृशम चेष्टते सुस्या प्रकृति ज्ञानवान अपनी प्रकृति में अंत भूतानि निग्रह के सारे प्राणी अपने प्रकृति के अधीन है उसका निग्रह कौन कर सकता है नहीं कर सकता अब प्रकृति में तो स्वभाव अपने तो स्वभाव के बसीभूत है सारे तो कहानी व्यक्ति कर्म करने का स्वभाव है तो ज्ञानी ने छोड़ दिया तो अज्ञानी कहा छोड़ेगा कर्म नहीं छोड़ेगा इसलिए वो कर्म करता है कर्म का विधि वाक्य भी प्रामाणिक हो जाएंगे अज्ञानी को लेकर के और तत्वसी आदि के ज्ञानी को लेकर प्रामाण्य होंगे कोई विरोध नहीं ये कहा सिद्धांत तत्व ब्रह्मविदाम नैष्कर्मे भी ब्रह्मवेत्ता का नैष्कर्म होने पर भी निर्गता कर्म यस्मात से निष्कर्मा तस्य भाव नैष्कर्म जिसके कर्म निकल गया उसको कहते हैं निष्कर्मा वो व्यक्ति उसमें धर्म आएगा नैष्कर्म ऐसा होता है तो ब्रह्म विदाम नैष्कर्मे भी ब्रह्मविद्ता के निष्कर्मा हो जाने पर भी मैंने कर्माभाव हो गया उनमें अद्वैत में पहुंच गए वो होने पर भी न कर्म विधि नाम अप्रामाण्य प्रसक्ति उत्तर महा फिर भी कर्म का विधान करने वाले वाक्य में अप्रामाण्य नहीं आता हाँ, क्यों काम ही करेगा कर्म एक कहा न करके बोल दिया न काम में विधि अनुच्छेद मतलब नहीं हाँ काम विधि अनुच्छेद दर्शन ठीक यही है उसका अर्थ न काम्य विधि अनुच्छेद दर्शनाथ बोल दिया माने काम काम्य विधान का उच्छेद नहीं होता इस सिद्धांत होता है ठीक है तदेव प्रभु उसी की व्याख्या काम्य काम्य कर्म संबंधी का उच्छेद नहीं होता उसी की व्याख्या करते आगे नहीं कामात्मता न प्रशस्ता किसी के मन में आया किसी विषयों की कामना करना अच्छा नहीं है स्वर्ग पुत्र आदि विषयों का कामना करना अच्छा नहीं थी एवं विज्ञान भी ऐसे जानने वाले व्यक्ति के द्वारा काम्यानि कर्माने नाम सीधे काम्य कर्म नहीं करते मतलब विषयों की इच्छा अच्छी नहीं है करके छोड़ दिया जिसने वो उनके द्वारा अनुष्ठान नहीं होने पर भी काम्य कर्म उचित न उचित देते काम कर्म का विधान के लिए उच्छेद नहीं होगा क्यों कामी भी अनुष्ठीयते व कामी भी जो कामी पुरुष है उसके द्वारा अनुष्ठान किया जाएगा उसको ना छोड़ेगा वो किसी के विवेक हो गया कामात्मता प्रसन्नता नहीं करके छोड़ दिया कर्मों को किंतु फिर भी कामी पुरुष तो करेगा ही ये कहा कि ठीक है का नहीं इति नोच्छिद्यंते विशेष माने कामी के द्वारा उच्छेद नहीं होगा कामी करेगा कर्म को यही कहा अस्तु प्रस्तुते के माया चलो हो काम्य कर्म कोई छोड़ देता है तो सभी नहीं छोड़ते हैं वो मान लिया गया यहाँ क्या आया प्रकरण में क्या आया प्रश्न आया तो उत्तर दे तथा इसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्म संस्थिर ब्रह्म विधि भी न अनुष्ठित कर्माणी भी जो ब्रह्म में सम्यक प्रकार से ठीक हुई है जो ब्रह्मदत्ता लोग हैं उनके द्वारा कर्मों का यदि अनुष्ठान नहीं किया जाता है तो न तद विधेय उच्छिद्यंते कर्म का विधान वाले वाक्य का उच्छेद नहीं होगा अप्रामाणिक नहीं होगा क्यों अप्रमविद भी अनुष्ठीन देगा जो अज्ञानी लोग हैं उनके द्वारा अनुष्ठान होगा उनका कर्म का अनुष्ठेन देगा तद विधि नाम अनुच्छिति विशेष इसलिए अनुष्ठान होता ही है इसलिए कर्म विधियों का कर्म का विधान करे वाक्य का उच्छेद नहीं होगा इस सिद्धांत कहा आगे <clears throat> शंका है टीका में अद्वैतवादी लोग अवश्यम भाविनी कर्म निवृत्ति उत्तम अद्वैतवादी का अवश्य कर्म का निवृत्ति है कर्म नहीं हो अद्वैत में कर्म नहीं हो सकता ये कहा ये जो कहा था उसको पूर्वादि विघटन करता है करता है दृष्टांत ने विघटन आवश्यक है दृष्टांत दे करके विघटन करता हुआ शंका उठाता है अद्वैतवादी में कर्म नहीं हो सकता जो कहा था कर्म का उच्छेद है ये जो कहा उसको दृष्टांत दे करके विघटन करता हुआ शंका उठाता है कैसा देखो जो अद्वैत में पहुंचे हुए परिव्राजक लोग हैं भिक्षाटन आदि कर्म करते ही नहीं करते करते हैं भिक्षाटन आदि होती है ठीक ये दृष्टांत है परिव्राजका नाम भिक्षा भिक्षाचरणाधिवत जैसे परिव्राजक है उनके जैसे भिक्षाचरण आदि होता है अद्वैत में पहुंचे हुए ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं भिक्षाचरण आदि करते हैं गंगा स्नान करते हैं भिक्षाचरण करते हैं करते हैं इसी प्रकार उत्पन्न एकत्व प्रत्यय नाम अभी आदि गृहस्थ हो वान प्रस्थ हो ब्रह्मचारी हो इनका भी जिसको एकत्व प्रत्यय एकत्व बुद्धि उत्पन्न हो गई है ऐसे व्यक्ति को मान जैसे एकत्व बुद्धि उत्पन्न होने वाले कुछ कर्म देखा था क्या देखा भिक्षा आदि उसी प्रकार गृहस्थ आदि में भी एकत्व बुद्धि हो गई किसी को तो वहां भी अग्निहोत्र आदि कर्म होगा तो ज्ञान और कर्म के समस्या हो जाएगा ये तो वृत्तिकार का कहना ज्ञान कर्म समुचयवादी है ये कहना चाहते हैं परिव्राजका नाम भिक्षाचरणाधिवत हाँ, जैसे परिप्राजक है एकत्व बुद्धि में गए वो लोगों के लिए भिक्षाचरण तो है जीवन के लिए है कर्म है वहां इसी प्रकार उत्पन्न एकत्व प्रत्याराम गृहस्त आदि नाम जिसको उत्पन्न हो गया एकत्व बुद्धि हो गई है हम ब्रह्मास्त्र ये बुद्धि उत्पन्न हो गई गृहस्थ आदि है उनमें उनका भी अग्निहोत्र आदि कर्म अनिवृत्ति ही जैसे वहां भिक्षाचरण आदि अनिवृत्ति है अद्वैत में पहुंचे उनके लिए एकत्व में पहुंचे इसी प्रकार गृहस्थ आदि में भी जो एकत्व बुद्धि में पहुंचे गृहस्थ आदि के लिए अग्निहोत्र आदि करेंगे अग्निहोत्र आदि की निवृत्ति नहीं होगी तो क्या होगा ज्ञान कर्म समुचय हो गया गृहस्थों में यदि चेत ऐसा कोई शंका करे तो सिद्धांत का हाँ, ये ठीक है क्यों प्रामाण्य चिंतायाम अग्निहोत्रादि आदि वाक्यों में प्रमाण प्रामाण्य है कि नहीं कर्म विधि वाक्यों में प्रामाण्य है कि नहीं ये विचार चल रहा है यहाँ प्रामाण्य के जो विचार हुए पुरुष और प्रवृत्ति है अधिक वो भिक्षाचरण आदि पुरुष संबंधी प्रवृत्ति है वो यहां दृष्टांत नहीं बन सकता ज्ञानी का भिक्षाचरण करना वहां पर कुछ प्रवर्तक मिलेगा प्रवर्तक बुभुक्षा बुभुक्षा के कारण भिक्षाचरण करता है वो किंतु यहां यदि किसी को ज्ञान हो गया है तो ज्ञान होगा किसको भेद बुद्धि को बाध करके होगा और अग्निहोत्र आदि कब होगा भेद बुद्धि को लेकर के होगा तो यहां प्रवर्तक नहीं मिलेगा माने ज्ञान होने पर अग्निहोत्र आदि करने के लिए प्रवर्तक नहीं मिलेगा और वहां पर बुभुक्षा प्रवर्तक है ज्ञान होने पर भी भिक्षा तनादि के प्रवर्तक वहां बुभुक्षा है विषमता ही दिखाते हैं सिद्धांत का प्रामाण्य चिंतायाम समुच्चय है ज्ञान कर्म समुच्चय है कि नहीं प्रमाण है कि नहीं विचार चल रहा है मान वृत्तिकार बोलते हैं ज्ञान कर्म समुच्चय ये दिखाया उन्होंने गृहस्थ में दोनों दिखाया उत्पन्न एकत्व बुद्धि वाले गृहस्थों का भी अग्निहोत्र आदि की निवृत्ति नहीं होगी अग्निहोत्र करता रहेगा जैसे उत्पन्न ज्ञान एकत्व ज्ञान जिनको हो गया सन्यासियों को भी परिव्राज को ग्रहण आदि कर्म हो रहा वहां इसी प्रकार यहां भी होगा ये जो कहा था तो ये ब्राह्मण चिंता है यहां विचार है प्रामाण्य संबंधी उसमें पुरुष प्रवृत्ति और अधिष्ठाता भिक्षा तो पुरुष की प्रवृत्ति है वो ये दृष्टांत नहीं बनेगा ये कहा ये कहते हैं नहीं नाभिचरेत यदि प्रतिषिद्धम अभी अभिचरण कश्चित कुरन दृष्ट इति सत्रह उद्देश्य रहते नाभि विवेकिना अभिचरण क्रिय थे अरे देखो एक अभिचार याग होता है शत्रु मारने के लिए शत्रु को मारना है बड़ा शत्रु है तो द्वेष है शत्रु के साथ फिर तो हम मार नहीं सकते एक यज्ञ करेंगे कोई ऐसी दुर्घटना हो गई तो मर जाएगा अविचार यज्ञ होता है किंतु वो अविचार करने वाला व्यक्ति को बाद में नरकपात होगा शत्रु तो मर जाएगा किसी निमित्त से किंतु उसका पाप भी तो लगेगा अभी नरकपात भी होगा ऐसी कहानी है अभिचरे प्रसिद्धम अभी अभिचरणम एक अविचार कर्म प्रसिद्ध नहीं है प्रतिषिद्ध है अविचार कर्म नहीं करना चाहिए शत्रु तो मर जाएगा अविचार कर्म करने से किंतु किसी निमित्त से मर जाएगा वो आपको मारने जाना नहीं पड़ेगा किंतु कालांतर में आपको नरक पात होना है ऐसी स्थिति है तो नाभिचरे दीदी प्रतिषिद्धम अपनी नाभिचरे तो ऐसा वाक्य आया है प्रतिषिद्ध होने पर भी अभिचारण से प्रतिषिद्ध अभिचारण है कश्चित पूर्वन दृष्टि कोई व्यक्ति करता हुआ देखा ऐसा दिखाई पड़ता है श्रुति बोलते ना विचारे बोला और विचार याग नहीं करना चाहिए ऐसा कहा कहने पर भी शत्रु में द्वेष होने के कारण से कोई कर लेता है ऐसा देख लिया किसी ने ऐसा देखने मात्र से शत्रु द्वेष रहते ना भी शत्रु में जिसका द्वेष नहीं है ऐसा व्यक्ति के द्वारा विवेकी ना अभिचारण न क्रियते विवेकी के द्वारा अभिचार याग नहीं किया जाता जिसको शत्रु में द्वेष होगा वही वही उसी के द्वारा अभिचार याग होगा जिसमें शत्रु में द्वेष नहीं है श्रुति बोल रही है ना विचरित करके अविचार याग न करे ऐसे बोल रही है तो विवेकी के द्वारा नहीं किया जाता ये कहना चाहते हैं आगे न च कर्म विधि प्रवृत्ति निमित्ते भेद प्रत्यय बाधित अग्निहोत्रादो प्रवर्तक में निमित्तम अस्ती दूसरी बात यह भी है कर्म का विधान के प्रवृत्ति में निमित्त होते हैं भेद बुद्धि कर्म के लिए भेद बुद्धि कर्ता का कर्म आदि कारक के भेद रख करके कहा कर्म होता है कर्म विधि प्रवृत्ति निमित्त है कर्म का विधान वाक्य में जो कर्म के विधि में निमित्त क्या होते हैं भेद बुद्धि भेद बुद्धि के बिना कर्म नहीं होता उसके बाधित जब बाधित हो चुका एकत्व ज्ञान के द्वारा किसके द्वारा भेद बुद्धि बाधित हो गई भेद बुद्धि बाधित होने पर अग्निहोत्र आदो प्रवर्तक निमित्तम नास्ती अग्निहोत्र आदि में फिर प्रवर्तक निमित्तक नहीं रहा क्यों भेद बुद्धि होती तो अग्निहोत्र आदि होता भेद बुद्धि समाप्त हो गया अद्वैत ज्ञान से उस स्थिति में प्रवर्तक नहीं रहा इसलिए भेद बुद्धि होना संभव नहीं है कर्म नहीं हो सकता अद्वैत यदि बना है तो कर्म नहीं हो सकता एक बार किंतु जो दृष्टांत दिया था पूर्वादि ने जैसे पारिव्राजक एकत्व बुद्धि में गया हुआ व्यक्ति उसके लिए भिक्षा प्रणाली कर्म कहा था कहते हैं पारिव्राजक से ही भिक्षा प्रणाम तो बुभुक्षादि प्रवर्तक जैसे यहां तो बुभुक्षादि प्रवर्तक है माने एकत्व ज्ञान के बाद भी भिक्षाटन कर सकता है बुभुक्षा है अभी प्रवर्तक है किंतु अग्निहोत्रादि कर्म ज्ञान के बाद में अग्निहोत्रादि कर्म करने के लिए प्रवर्तक कोई है ही नहीं उसके अग्निहोत्रादि कर्म लिए प्रवर्तक भेद बुद्धि भेद बुद्धि नाश होकर के एकत्व ज्ञान होना है तो प्रवर्तक है नहीं इसलिए अग्निहोत्रादि कर्म नहीं हो सकता ज्ञान होने के बाद ये कहा ठीक से देखो अद्वैत यदि स्वभाव आलोचनायाम अद्वैत बुद्धि के जो स्वभाव है उसके विचार करने पर भिक्षाटनादि प्रवृत्ति भी है भिक्षाटन आदि प्रवृत्ति भी वास्तव में दूसरे के देखने से हो रहा है उस व्यक्ति में भिक्षाटन आदि भी नहीं होती है वो तो अद्वैत में पहुंचा है वो भिक्षाटन का आभास है वह वास्तव में दूसरे व्यक्ति को दिखाई पड़ता है वो तो अपने एकत्व में पड़ा हुआ है एकत्व बुद्धि में हो अद्वैत अधिक स्वभाव आलोचना अद्वैत बुद्धि के जब विचार चलता है जब अद्वैत में पहुंचा होगा वहां भिक्षा ही नहीं है भिक्षाटन भी नहीं है उसकी दृष्टि से तो ऐसी स्थिति है अद्वैत स्वभाव आलोचनायाम भिक्षाटन आदि प्रवृत्ति भी जो दूसरे के द्वारा दिखाई पड़ रहा है भिक्षाटन आदि तो प्रवृत्ति वो भी अघट माना वो घट नहीं सकती इति मनवाहन समाधत्ते ऐसे मानने वाले सिद्धांति इसका समाधान देते हैं कहा न इत्यादि कहा कि प्रामाण्य चिंतायाम यहां तो समुच्चय है कि नहीं है मैंने ज्ञान होने के बाद में कर्म के साथ समुच्चय हो सकता कि नहीं उसका ये विचार चल रहा है ज्ञान कर्म समुच्चय हो सकता है कि नहीं इस इस चिंता विचार में पुरुष की जो प्रवृत्ति है वो दृष्टांत नहीं होता है अदृष्टान्तत्वात बोल दिया है ठीक है देखें समुच्चय से प्रामाणिकत्व निरूपणायाम या समुच्चय प्रामाणिक है या नहीं ज्ञान कर्म समुच्चय प्रामाणिक है कि नहीं यहां निरूपण यह चल रहा है इसमें प्रत्यय भाष मूल से प्रवृत्ति आवास से बुद्धि आवास बुद्धि पूर्वक होने वाले जो प्रवृत्ति है आवास बुद्धि हो गई उसको देहावास बुद्धि हो गई वास्तव में देह बुद्धि नहीं देहाभास बुद्धि होने से प्रवृत्ति हो रही है भिक्षाटन में प्रवृत्ति आवास मूल प्रत्यय आवास मूल से बुद्धि आवास मूलक जो प्रवृत्ति आवास है बुद्धि बने आवास बुद्धि वास्तविक बुद्धि नहीं तो इसलिए प्रवृत्ति हो रही न उदाहरण तुम ये कहा उदाहरण नहीं हो सकता अग्निहोत्रा आदि प्रवृत्ति आवास सत्य प्रामाणिक समुच्चय सिद्धांत आने अगर अग्निहोत्रा आदि प्रवृत्ति को भी आवास मानोगे तो फिर प्रामाणिक समुच्चय करना चाहते हो ज्ञान कर्मतन उस समुच्चय की सिद्धांत की हानि होगी नहीं आवास होगा तो समुच्चय वास्तविक समुच्चय नहीं है अग्निहोत्रादि प्रवृत्ति भी आवास सत्य यदि अग्निहोत्रादि प्रवृत्ति को आवास मानोगे या भिक्षाटनादि प्रवृत्ति आवास है तो अग्निहोत्रादि प्रवृत्ति भी आवास है कहोगे उस स्थिति में प्रामाणिक समुच्चय सिद्धांत आएंगे प्रामाणिक समुच्चय तुम मानना चाहते हो ज्ञान और कर्म का प्रामाणिक समुच्चय उसकी हानि होगी ज्ञान प्रामाणिक और अग्निहोत्रादि आवास आवास ये हानि होगी अतो नहीं तो चर्चा नहीं करते इसलिए यहां पर समुचय आदि का प्रश्न नहीं हो सकता एक तदेव दृष्टान्त है ना प्रश्न इसी बात को दृष्टांत के द्वारा स्पष्टीकरण करते नहीं इत्यादि कहा नहीं जैसे श्रुति में आया ना भी चले बोला अभिचार याद न करें श्रुति बोल रही है ऐसा होने पर भी शत्रु में जिसका द्वेष होगा वो करेगा तो ना विचरे थी प्रसिद्धम अभी अभिचरा प्रसिद्ध है प्रतिषिद्ध है अभिचर नहीं ऐसा होने पर भी कश्चित कुर्बन दृष्टा किसी ने किया हुआ देखा शत्रु में द्वेष है कर दिया उसने विचार यार देखने मात्र से शत्रु द्वेष में रहते हैं ना तो शत्रु में जिसका द्वेष नहीं है उस ऐसे विवेकी व्यक्ति है तो उसके द्वारा भी अभिचरण न क्रिय उसके द्वारा नहीं किया जाता ठीक इसी प्रकार यहां भी है कहा ठीक है जाते हैं तद्वत विवेक नाम कर्म क्रियमाण तद्वत अविवेक नाम कर्म क्रियमाण दृष्ट इसे यहां को घटाना है उसी प्रकार अविवेकी के द्वारा कर्म किया जा रहा है ऐसे दिखाई पड़ रहा है तो विवेकी नहीं करेगा जैसे नाविचारित वाक्य आया आने पर भी कोई शत्रु में द्वेष के कारण अविचार या कर रहा है करने पर भी विवेकी नहीं करेगा शत्रु में जिसका द्वेष नहीं इसी प्रकार यहां भी अविवेकी के द्वारा कर्म यदि किया जाता है तो विवेकी नहीं करेगा यदि गृहस्थ आदि में विवेकी है तो कर्म नहीं कर सकता तो फिर ज्ञान कर्म समुचय होगा ही नहीं यही सम उत्तर दे रहे तद्वत अविवेकी नाम कर्म क्रियमाण दृष्टमिति अविवेकियों के द्वारा कर्म किया जा रहा है ऐसा देखने पर विवेकी भी रपी तन न क्रियते विवेकी के द्वारा वो कर्म नहीं किया जाता कहा भिक्षाटनादि प्रवृत्ति आभास अस्तु भिक्षाटनादि वास्तव में ज्ञानी के दृष्टि में भिक्षाटन भी नहीं वो एकत्व दृष्टि में बैठा हुआ होता है वास्तविक जो ज्ञानी होगा वो एकत्व दृष्टि में है तो आदि जो प्रवृत्ति का आभास है लोगों में देखा ही पड़ता है उसमें होता नहीं है वो तो अपने एकत्व तो भाव में पाए वो भिक्षाटनादि प्रवृत्ति आवास आवासस्तु अप्रामाणिक या यह है अग्निहोत्र आदि प्रवृत्ति में उदाहरण अग्निहोत्र आदि प्रवृत्ति को प्रामाणिक मानना है और ये अप्रामाणिक इसे उदाहरण नहीं बनेगा अग्निहोत्र आदि प्रवृत्ति में भिक्षाटन आदि प्रवृत्ति उदाहरण नहीं होता एक है इतश्च नेदम उदाहरण यदि से भी उदाहरण नहीं हो सकता क्या तो कहा न च कर्म कर्म विधि विधि प्रवृत्ति निमित्त भेद प्रत्यय बाधित कर्म का विधान करने वाले जो प्रवृत्ति का निमित्तक है भेद बुद्धि उसके बाधित होने पर हाँ, अग्निहोत्र आदि प्रवर्तकम निमित्तम नास्ती अग्निहोत्र आदि में प्रवर्तक निमित्त नहीं है पारिव्राजक से वृक्षाद की दृष्टान्त जैसे परिव्राजक है उसमें भिक्षा आदि में बुभुक्षा प्रवर्तक है उस प्रकार भेद बुद्धि नष्ट होने पर अग्निहोत्र आदि के लिए प्रवर्तक कोई है ही नहीं तो अग्निहोत्र आदि कैसे करेगा भेद बुद्धि नष्ट होने पर अद्वैत काल में नहीं कर सकता एक बात शंका ठीक में अग्निहोत्र आदो भी प्रवर्तकम अस्थित हाँ। पूर्वादि कहता है अग्निहोत्र आदि भी प्रवर्तक है प्राश्च प्रतिवाय लगता है नहीं करने पर भाई से करेगा ये पूर्वादि शंका हाँ। करेगा जैसे और परिव्राजक भिक्षाता मान्य प्रवर्तक है बुभुक्षा इसी प्रकार अभी अज्ञानी के लिए कर्म करने में प्रवर्तक है ज्ञानी के लिए कर्म करने में प्रवर्तक है क्या भय प्रतिभा लगेगा ये पूर्वादि अग्निहोत्र आदि प्रवर्तकम अस्थित संगत अग्निहोत्र आदि पे प्रवर्तक है सिद्धांत ने कहा था भिक्षा आदि पे प्रवर्तक विभुक्षा है यहाँ वेद बुद्धि नष्ट हो चुकी है नष्ट होने के कारण प्रवर्तक नहीं अग्निहोत्र आदि करने कहा था उसको विघटन करना चाहता है अग्निहोत्र भी प्रवर्तकम अस्थिति संगत है अग्निहोत्र आदि में प्रवर्तक है शंका उठाता है पूर्वादि यहाँ भी यहाँ भी अकरणे प्रत्यवाय भयम प्रवर्तकम यहाँ भी माने अग्निहोत्र आदो जो अग्निहोत्र आदि हैं इनमें भी कर्म में भी ज्ञान ज्ञानी है अग्निहोत्र नहीं करेगा तो प्रत्यवाय भय प्रत्यवाय का भय है उसको पाप का डर है इसलिए प्रवर्तक बन गया वो भय प्रवर्तक हो जाएगा ज्ञान होने पर भी कर्म करेगा गृहस्थाश्रम आदि जो अद्वैत में पहुंचे हुए हैं फिर भी अग्निहोत्र आदि कर्म हो सकता है जैसे सन्यासी है ज्ञान हो तो ज्ञानी है फिर भी प्रवृत्ति है उसकी ज्ञान कर्म समुचय दिख रहा वहां ठीक इसी प्रकार गृहस्थ आदि में ज्ञानी हो गए हैं तो वहां अग्निहोत्र आदि होता रहेगा क्यों वहां भी प्रवर्तक है भय प्रतिभा का भय प्रवर्तक है ऐसे पूर्वाज ने कहा सिद्धांत कर भेद प्रत्यवतो अधिकृत देखो भाई अग्निहोत्र आदि का अधिकारी वही है कौन भेद ज्ञान भेद बुद्धि वाला जब अभेद में पहुंचा है तो फिर अग्निहोत्र कहां कर सकेगा भेद प्रत्येकतो अधिकृतत्वाद भेद प्रत्यय वाला का ही अधिकारी विषय बनाया है कौन अग्निहोत्र अवेद में यदि पहुंचा है तो फिर भेद बुद्धि पूर्वक अग्निहोत्र नहीं कर सकता अवेद में पहुंचा है तो प्रतिभा भी नहीं दिखेगा उसको कहां से फिर अग्निहोत्र करेगा वो एक कहते हैं भेद प्रत्ययवान अनुपमर्दित भेद बुद्धि विद्य यह सकर्मणी अधिकृत अवोचाम हम पहले बोले कर्म का अधिकारी कौन है हम बोल चुके हैं सिद्धांत ज्ञान में क्या बोले वेद प्रत्ययवान वेद बुद्धि वाला जो होगा विद्या अनुपमर्पित भेद बुद्धि कहते हैं उपासना के द्वारा भेद बुद्धि अभी जिसकी नष्ट नहीं हुई है उपासना कर रहा है भेद बुद्धि नष्ट नहीं हुई है विद्या माने उपासनाया उपासना के द्वारा अनुपमर्गित भेद बुद्धि भेद बुद्धि नाश नहीं किया जिसने उपासना के द्वारा उपासना करते करते अंतकर्म शुद्ध करके भेद बुद्धि नष्ट करना था नष्ट नहीं हुआ है विद्या अनुपमर्पित भेद बुद्धि भेद प्रत्यवान यह है तो उपासना के द्वारा जिसकी भेद बुद्धि नष्ट नहीं हुई है हाँ, भेद बुद्धि वाला है जो व्यक्ति या जो ऐसा होगा स वही व्यक्ति कर्म नहीं अधिकृत कर्म को ही अधिकारी माने वेद बुद्धि का नाश करने का एक ही उपाय उपासना करनी चाहिए अपने इष्ट की खूब उपासना करनी चाहिए उपासना जो नहीं किया तो वेद बुद्धि नाश नहीं हुई वेद बुद्धि नाश न होने के कारण जो ऐसा व्यक्ति है वह कर्म ने अधिकृत अवचान कर्म अधिकारी वही है हमने पहले भी कहा है बात यो ही अधिकृत कर्मणि तस्य तद अकरणे प्रतिभा जो कर्म में अधिकारी होगा वो व्यक्ति को कर्म न करने पर जिसमें जो अधिकारी होगा उसको वो न करने पर प्रत्यवायी होगा नियम यह है यो ही अधिकृत कर्मणी जो व्यक्ति अधिकारी होगा कर्म में कर्म में अधिकारी कौन है जो उपासना के द्वारा भेद बुद्धि जिसने नाश नहीं किया है हाँ, भेद बुद्धि वाला है वही कर्म में अधिकारी है अग्निहोत्रादि कर्म वही करेगा यो ही अधिकृत कर्मणी जो व्यक्ति कर्म में अधिकारी है तस्य उस व्यक्ति का तद अकर्णे वो कर्म न करने पर प्रत्यवाय प्रत्यवाय होगा किंतु निवृत्त अधिकार से जिसका अधिकार समाप्त हो गया वो कर्म नहीं करेगा तो प्रतिभा लगेगा अभेद में पहुंच चुका है भेद बुद्धि नहीं है भेद बुद्धि वाला अधिकारी होता है कर्म करने के लिए तो जिसका अधिकार ही नहीं है वो कर्म नहीं करेगा तो प्रतिभा लगेगा उसमें नहीं ये नहीं लग सकता ये कहा ना निवृत्त निवृत्त अधिकार से जिसका अधिकार समाप्त हो चुका है अभेद बुद्धि में पहुंचा हुआ है वो कर्म नहीं करेगा तो प्रतिभा नहीं होता उसको न निवृत्त अधिकार से गृहस्थ से ब्रह्मचारी को विशेष धर्म अनुष्ठान है कहा जैसे गृहस्थ का धर्म ब्रह्मचारी अनुष्ठान नहीं करता तो क्या ब्रह्मचारी को प्रतिभा लगेगा विशेष धर्म है गृहस्थ का धर्म एक विशेष धर्म है उनका वो धर्म यदि ब्रह्मचारी अनुष्ठान नहीं करता तो ब्रह्मचारी को पाप लगेगा क्या नहीं लगता जो अधिकार नहीं उसको जो जिसका अधिकार है वो काम नहीं करेगा तो उसको प्रतिभा लगेगा और गृहस्थ का धर्म ब्रह्मचारी को अधिकार नहीं है तो वो नहीं करेगा ब्रह्मचारी तो पापी पापी होगा वो नहीं हो सकता ये कहा एक ये व्यतिरिक दृष्टान दे रहे हैं यो ही अधिकृत कर्म नहीं तस्य में प्रतिभा जो कर्म में अधिकारी होगा उस कर्म को वो व्यक्ति को वो कर्म न करने में प्रतिभा होता है न निवृत्ता अधिकार से जिसका अधिकार समाप्त हो चुका है जैसे गारस्थ धर्म ब्रह्मचारी पालन नहीं करेगा तो ब्रह्मचारी को प्रतिवाही नहीं लगता उसमें यही उदाहरण दे रहे हैं निवृत्ता अधिकार से जिसका अधिकार नहीं है निवृत्त है अधिकार उसके न करने में प्रतिभा नहीं होता जैसे गृहस्थ से विशेष धर्म अनुष्ठान है जैसे गृहस्थ विशेष धर्म का अनुष्ठान करता है गृहस्थाश्रम ही है ब्रह्मचारी को न प्रतिभा है ब्रह्मचारी को धर्म का पालन न करने से प्रतिभा नहीं लगता क्यों अधिकार नहीं उसको पूर्वाधिकता एवं था सर्व शास्त्रम अस्त उत्पन्न एक तो प्रत्यय परिदान एक और बोलता है पूर्वादि कथा तब ये मानो सभी अपने अपने आश्रम में रहते हुए चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो बानप्रस्थ हो सन्यासी हो सर्व स्वाश्रमस्थ अपने अपने आश्रम स्थित होते हुए उत्पन्न एक तो प्रत्यय अपने आश्रम में बैठे बैठे ज्ञान हो गया जिनको ब्रह्मचारी को वही हो गया सन्यासी को वही हो गया हाँ, गृहस्थ को हो गया परिप्रा उसी को सन्यासी मानेंगे यदि ब्रह्मचारी को ज्ञान हो गया तो वो सन्यासी है उसी अवस्था अपने आश्रम में ही हो माने ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ा नहीं उसने ब्रह्मचारी आश्रम माने शिखा सूत्र आदि है वो परिप्राप्त और गृहस्थ आश्रम में बैठा हुआ है यदि ज्ञान हो गया तो परिप्राप्त ऐसा माना जाए जिसको ज्ञान हो जाए उसको सन्यासी सन्यासी एक अतिरिक्त कुछ नहीं है इन्हीं आश्रम में से जिसको ज्ञान हो जाए वो सन्यासी को माना जाएगा अपने आश्रम धर्म है अभी ऐसा ये समझ ऐसी शंका एवं तभी सर्व सबके सब ब्रह्मचारी गृहस्थ बान प्रस्थ सन्यासी जो भी हो स्वाश्रम था स्व स्व आश्रम अपने अपने आश्रम स्थित है उत्पन्न एकत्र प्रत्यय उसी में ज्ञान हो गया अपने आश्रम में रहते रहते ही तो परिग्राह वो सन्यासी माना जाएगा ये शंका है तो कहते हैं न हाँ, अपने अपने आश्रम में रहने से ज्ञान वो सन्यासी नहीं कहला सकता क्यों स्वस्वामित्व तो भेद बुद्धि अनिवृत्ति भेद बुद्धि है वहां युगोपवितादि तो में मेरे हैं ये जनेव मेरा है शिखा मेरी है ऐसी बुद्धि है वहां मैं इनको मालिक हूं स्वस्वामित्व तो बुद्धि है भेद बुद्धि है भेद बुद्धि यही तो फिर वहां परिप्राट हो नहीं पाएगा ना ब्रह्मस्वस्थ हो नहीं पाएगा ना ये तो बात है ये कहते हैं स्वस्वामित्व भेद बुद्धि अनिवृत्ते कहा स्वस्वामित्व स्वत्व और स्वामित्व भेद बुद्धि है ये मेरा है शिखा मेरी है एक उपयोग मेरा है मैं अमुक वर्ण का हूं भेद बुद्धि है योग्य कविता आदि के साथ में स्वामित्व बुद्धि है उसके पास मैं इसके अधिकारी हूं बुद्धि भेद बुद्धि निवृत्त नहीं हुई भेद बुद्धि निवृत्त नहीं हुई तो परिप्राप्त नहीं हो सकता परिप्राप्त तो वही है सन्यासी वही है माना सिद्धांत की ओर से सन्यासी मुख्य सन्यासी सन्यासी जिसको माना जा रहा है मुख्य सन्यासी ब्रह्मशस्त्र वेद बुद्धि नहीं बच सकता एक बात कर्मार्थत्व चैतर दूसरी बात ये भी है देखो अन्य आश्रम एक संन्यास आश्रम को छोड़ करके अन्य आश्रम कर्म के लिए सारे ब्रह्मचारी के लिए कर्म है वेदाध्ययन आदि कर्म है गृहस्थ के लिए कर्म है यज्ञाध्ययन दान आदि कर्म है बान प्रश्न के लिए तत्कर्म है और आश्रम धर्म मात्र का पालन करने वाले सन्यासी के लिए समतम आदि कर्म है इंद्रिय निग्रहित करना मन को निग्रह करना ये सब कर्म है उसके लिए भी यहां जो परिवार शब्द मुख्य सन्यासी के रूप में हुआ है केवल आश्रम धर्म रहने वाले को द्वितीय में रख दिया तपैव द्वितीय में रखा हुआ है यहां यहाँ के जो सन्यासी शब्द यहाँ जो प्रयोग हो रहा है मुख्य सन्यासी जो आत्मभाव में बैठा हुआ है वहां भेद बुद्धि निवृत्त है वहां कर्म नहीं हो सकता जहां स्वत्व स्वामित्व आदि धर्म का प्रयोग हो रहा है वो परिग्राट नहीं हो सकता ये कहा से इतर आश्रम कहते तो एक संन्यास आश्रम से अतिरिक्त आश्रम में कर्म है तो जब कर्म है तो भेद बुद्धिपूर्वक कर्म होगा तो परिप्राट कैसे कहेंगे उसको परिप्राट नहीं हो सकता वो क्यों अज्ञानी ये कहा जाया में सियात अथा कर्म पूर्वी यह वृद्धार्मिक मेरी पत्नी हो जाए क्यों पत्नी के बिना कर्म नहीं कर सकता पुत्रेशण आगे पुत्र उत्पादन करना है इसलिए या मैं श्या मेरी पत्नी हो जाए ऐसा कामी अज्ञानी अथ कर्म वित्तम वैसे अथ कर्म पूर्वी मेरे पास धन हो जाए हाँ, दैव वित्त मानुष वित्त हो जाए दोनों तो अथ कर्म पूर्वी मैं कर्म करूं ऐसा मानता है तो यहाँ कर्म करने के लिए बोलता अज्ञानी की चर्चा है अज्ञानी ऐसा बोलता है इति श्रुते ऐसा कहा क्योंकि कर्म कर्मार्थत्वाचे तद आश्रम कहा कर्म सुनाई पड़ा कहते हैं वृद्धार्ड में नहीं पड़ा वृद्धार्ड में कहा अथ कर्म कुर्वी ऐसे कहा हुआ है मैं कर्म करूं विदृलिंग है उत्तम पुरुष एक वचन है मैं कर्म करूं ऐसा बोल रहा है अन्य आश्रमों में कर्म है एक कहा तस्मात स्वस्वामित्व अभावात भिक्षु रेक एवं परिप्राप्त इसलिए उसमें स्वत्व स्वामित्व बुद्धि नहीं है उस परिप्राप्त सन्यासी कोई ये एकत्व तो भाव में पहुंचा हुआ है वहां द्वैत भाव नहीं है ये मेरे हैं मैं हूं ये बुद्धि ने ये सीखा मेरी है प्रवृत्ति करा ये बुद्धि है ही नहीं हाँ, ऐसी बुद्धि में एकत्व तो भाव में है इसलिए तस्मात स्वस्वामित्व अभाव एक व्यक्ति में स्वस्वामित्व नहीं स्व तो स्वामित्व नहीं है न होने से एक एवं परिप्राण एक भिक्षु ही है एकमात्र परिप्राण वही होता है ज्ञानी सन्यासी की चर्चा है न गृहस्थादि गृहस्थादि नहीं यहां यहाँ पर सन्यासी शब्द बहुत ऊंचे स्थान में प्रयोग है इस मंत्र की व्याख्या में जो आश्रम धर्म के पालन करने वाले सन्यासी को तो बाण प्रत्य के साथ रखा हुआ है तपैव द्वितीय में रखा हुआ है ये तीनों को कहने के बाद आगे आया ब्रह्म अमृतत्व में थी वो ब्रह्म ब्रह्म में सम्यक स्थित को यहाँ भिक्षु कहा जा रहा है ये समझना है स्थिति का है तो विद्वत सन्यासी की चर्चा है तो यहाँ नहीं परिप्राण गौण प्रयोग है मुख्य नहीं यहां का परिप्राण शब्द विद्युत सन्यासी के लिए जो ब्रह्म संस्था अमृतत्व व्यक्ति वही जो ब्रह्म संस्था है वही वहां विद्वत सन्यासी है उसी को यहां कहा जा रहा है मुख्य बात है बाकी तो अपने मेरे कर्म कर रहे हैं युगदीशु सन्यासी भी कर्म कर रहा है समतमादि कर्म है उसके लिए मुख्य सन्यासी नहीं हो सकता इस मंत्र में जो है क्या है ठीक है अकर्मम प्रतिभाख्यम भयम अविवेकिनो विवेकिनो वा यदि विकल्प आद्यम अंगीकर होती पूर्वादि ने कहा था कि गृहस्थादि आश्रम में रहते हुए एकत्व ज्ञान हो गया है फिर भी अग्निहोत्रादि कर्म करेगा कैसे जैसे एकत्व ज्ञान में पहुंचा हुआ जो सन्यासी है वो भी भिक्षाटनादि कर्म करता है वहां प्रवर्तक बुभुक्षादि है यहां भी प्रवर्तक है एकत्व ज्ञान होने पर भी गृहस्थ आदि यदि कर्म नहीं करता है तो प्रवर्तक क्या है प्रत्यवाय का दान वो प्रवर्तक है इसलिए कर्म करेगा ये कहा था उसका खंडन करते हैं अकर्णकृतम प्रतिभाख्यम भयम विवेकी विकल्प करते हैं माने अग्निहोत्र आदि का न करने पर जो प्रतिभा का भय बनना है वो भय किसको विवेकी ज्ञानी को कि अज्ञानी को वो भय किसको पैदा होगा ज्ञानी को होगा क्या सिद्धांति दो विकल्प करके खड़ा करता है अकर्णकृतम प्रतिभाख्य बाह्याख्यम है अकर्ण के कारण अग्निहोत्रादि न करने से होने वाला जो भय है वो भय विवेकिनो अविवेकिनो विवेकिनो वा अज्ञानी को है अज्ञानी को है वो भय यदि विकल्प आद्यम अंगीकर ये अज्ञानी को है ठीक है प्रतिभा भय से कर्म करेगा वो मैंने अभी उसको एकत्व ज्ञान हुआ ही नहीं है यदि अविवेकी है तो एकत्व ज्ञान में पहुंचा ही नहीं वो तो प्रतिभा का भय है उसको इसलिए कर्म करेगा वो अज्ञानी का विषय हो गया न करके सिद्धांत लेगा न भेद प्रत्यय बदो तो अधिकृत खा भेद बुद्धि वाले का ही अधिकार अधिकार दिया है किसको कर्म करने के लिए ये कहा भेद प्रत्ययवान अनुपमर्थित भेद बुद्धि बुद्धि कहा विद्या विद्या माने विद्या अनुपमर्थित भेद बुद्धि उपासना के द्वारा भेद बुद्धि को जिसने नाश नहीं किया ऐसा जो भेद प्रत्यय वाला है भेद बुद्धि वाला है या जो ऐसा हो स वही व्यक्ति ने अधिकृत अव्यवधान कर्म में अधिकारी वही हमने ही कहा जिसने अपने इष्ट की उपासना के माध्यम से भेद बुद्धि नाश नहीं किया है भेद बुद्धि वाला है वही कर्म में अधिकारी है ये हमने कहा ठीक है हमें देखिए कर्मणि भेद बुद्धि मतो अधिकृतत्व है कर्म में भेद बुद्धि वाला का अधिकारी है कर्म वही कर सकता है जो भेद बुद्धि है द्वैत में है अब अद्वैत में नहीं गया वही व्यक्ति कर्म करेगा कर्मणि भेद बुद्धि मतो अधिकृत भी हाँ। पूर्वादि बोलता है कर्म में भेद बुद्धि वाले का अधिकार होने पर भी ठीक है तस्य तद अकर्ण के विषय वो कर्म नहीं करेगा भेद बुद्धि वाला तो क्या होगा तो कहा यो ही इत्यादि कहा यो ही अधिकृत कर्मणि जो कर्म में अधिकारी है भेद बुद्धि वाला है कर्म में अधिकारी है तस्य उस व्यक्ति का हाँ। तद अकर्ण वो कर्म न करने पर प्रतिभा है प्रतिभा होगा अधिकारी है तो प्रतिभा लगेगा ठीक है कहते हैं दोष है यदि विवेकी को कहे तो प्रतिभा का भय विवेकी मान एकत्व तो बुद्धि में पहुंच चुका है फिर भी अग्निहोत्र नहीं करने पर प्रतिभा का भय उसको कहोगे कहते न न निवृत्ता अधिकार उससे जिसका अधिकार समाप्त हो गया भेद बुद्धि ने तो अग्निहोत्र नहीं करता वो एकत्व में पहुंचा हुआ है उसको नहीं न निवृत्ता अधिकार से एक दृष्टांत दिया जैसे ब्रह्मचारी को गृहस्थ से एक विशेष धर्म अनुष्ठान है जैसे ब्रह्मचारी को गृहस्थ में होने वाला जो धर्म है वो धर्म का अनुष्ठान न करने पर कोई प्रत्यवाय होगा क्या निवृत्त अधिकार है उसका प्राप्त ही नहीं वो अधिकार जो जिस अधिकारी है वो नहीं करेगा तो पाप लगता है ठीक है ब्रह्मचारी ने आश्रम में धर्म नहीं किया तो ब्रह्मचारी को पाप लगेगा नहीं लगता क्यों अधिकार नहीं उसको ये कह रहे हैं ये टीका में कहते हैं विवेकिनो निवृत्ताधिकार जो विवेकी है एकत्व ज्ञान में पहुंचा उसका अग्निहोत्र के लिए अधिकार है ही नहीं निवृत्त हो चुका अधिकार क्यों भेद बुद्धिपूर्वक होना उसको या अवेद में पहुंचा हुआ है निवृत्त अधिकार वाला है ऐसे व्यक्ति का प्रत्यवाय अप्राप्त है उसके लिए प्रत्यवाय की प्राप्ति ही नहीं है कर्म से कर्म इसलिए प्रवर्तक अभाव कर्म में प्रवर्तक रहा ही नहीं वहां एकत्व ज्ञान होने पर अग्निहोत्र आदि कर्म का प्रवर्तक गुरुवाजी ने कहा था प्रतिभा का भय प्रतिभा होता ही नहीं उसको अधिकार नहीं है उसको एकत्व बुद्धि में भेद बुद्धि है ही नहीं इसलिए कर्मभ्यो निवृत्ति रूपम पारिव्राज्य चेत अच्छा पूर्वाधि शंका करता है फिर कर्म से निवृत्ति स्वरूप पारिव्राज्य यदि होता हो तो अति प्रसंग अति प्रसक्ति होगी कहा संगत एवं तही इत्यादि पूर्वाधि पूर्वादि बोलता है तब तो महाराज फिर यही होगा सभी अपने अपने आश्रम में रहते हुए जहां जैसा है कर्मचारी अपने में है गृहस्थ अपने आश्रम में है सब होने पर क्या होगा उत्पन्न एकत्व प्रत्यय जहां भी है ज्ञान हो गया जिसको वो परिप्रा वो सन्यासी है अभी आश्रम से बाहर गया नहीं संन्यास आश्रम में गया नहीं है अपने आश्रम में स्थित है किंतु एकत्व ज्ञान होने पर सन्यासी है वो ऐसा है तो सिद्धांत क्या नाम टीका से देखना कहते हैं तुमने कहा अपने अपने आश्रम में रहते हुए जो माने एकत्व ज्ञान में पहुंच गया वो सन्यासी कहा किंतु ध्यान देना कर्म साधनम स्वम यज्ञोपवितादि स्व स्वस्वामित्व में स्वपद का अर्थ ईगो पद कर्म के साधन है वो क्या है जब तक शिखा सूत्र है कर्म रहेगा ब्रह्मचारी का कर्म वेद पाठ आदि है हाँ, गृहस्थ का कर्म यज्ञ अध्ययन आदि है कर्म है और बान वर्ष का है तप तप आदि कर्म है कर्म साधन स्वम आदि ही स्वम स्वशब्द से स्वस्वामित्व में स्वशब्द से आदि कर्म का साधन है वो त्यजते नवा कहते हैं गृहस्थाश्रम में ही अपने अपने आश्रम में रहकर ही ज्ञान होने पर सन्यासी है करके तुमने जो कहा अब हम पूछते हैं सिद्धांत कहते हैं हम पूछते हैं कि जो कर्म का साधन एक पविता दिए त्यागा जाता है कि नहीं त्यागा जाता है गृहस्थाश्रम में रहने वालों को त्यज्य त्यज्यत यदि त्याग दिया गया यदि कर्म का साधन एक पविता आदि नहीं है उसके पास तो गृहस्थ भी नहीं कहलाएगा उसका अपने आश्रम भी नहीं रहेगा उसका त्यजते न स्वाश्रम धर्म फिर तो आश्रम धर्म का पालन हुआ ही नहीं वहां वो तो सन्यासी हो गया ना फिर स्वाश्रमस्थ नहीं हो पाया क्या नहीं हो पाया अपने आश्रम स्थित नहीं रहा वो वो तो आश्रमांतर में पहुंच गया तब तो ही पता है हम कहना गाते असंभवात गालत्यादि भावत असंभवात कहा इससे क्या उपवादी के यज्ञोपवित आदि के बिना गारस्थ संभव नहीं है तो तो अर्थ से परिभ्रण आ गया वो फिर स्वाश्रमस्थ शब्द नहीं आ, हो सकता क्या अपने आश्रम में स्थित नहीं हुआ वो फिर ये होगा न त्यजते चेत यदि त्यागा नहीं है ठीक है अपने आश्रम में स्थित है वो एक कर्म के साधन एक पविता भी रखा हुआ है उसने तो न पारिव्राज्य प्राप्ति फिर पारिव्राज्य नहीं होगा उसका वो तो गृहस्थ ही कहलाएगा क्या हो गया तो फिर वो तो गृहस्थाश्रम नहीं रहा ना फिर अग्निहोत्र आदि नहीं कर सकता ना भेद बुद्धि पूर्वक होना है अग्निहोत्र को ये अभेद में जाना है कैसे होगा तो हो गया तो अग्निहोत्र का ज्ञान कर्म समुचय की चर्चा चल रही है होना कि नहीं होना नहीं हो सकता ना अभेद में यदि पहुंचा है तो भेद बुद्धि पूर्वक होने वाले कर्म कैसे होगा ज्ञान कर्म समुचयवादी के मत का खंडन चल रहा है समुच्चय नहीं हो सकता साधन संग्रह से साध्यार्थत्वाद यदि परिहरती कहते हैं सिद्धांत कहते हैं साधन जितने भी संग्रह होता है किसके लिए साध्य के लिए होता है साधन है यज्ञोपविता आदि है स्वर्गात साध्य के लिए होता है यदि उपयोगिता नहीं त्यागा है तो फिर वो पारिव्राज्य धर्म नहीं माना जाता क्यों साधन जो भी साधन आपके पास है शिखा सूत्र आदि है आपके पास साधन जो भी होता है साध्य के लिए होता है कोई ना कोई साध्य सिद्ध करना है आगे उसके लिए होता है ये कहा न स्वामित्व भेद बुद्धि अनिरुद्ध कहा उसमें स्वस्व आश्रम में स्थित होकर के परिव्राट कहना नहीं बनेगा क्यों नहीं बनता है वह भेद बुद्धि है स्वस्वामित्व बुद्धि है परिभ्राट शब्द उसका नाम है जो एकत्व बुद्धि में गया हुआ स्वस्वामित्व तो जो मेरा यज्ञोपवित मेरे मेरा है शिखा मेरी ऐसी बुद्धि है मैं मालिक हूं स्वामी हूं ये मेरा स्व है संपत्ति ऐसी बुद्धि है तो परिप्राण नहीं है वो तो स्व आश्रमस्थ होता हुआ स्वस्व आश्रमस्थ होता हुआ परिभ्राट कहना उचित नहीं ये कहा ठीक है इत आश्रमांतरेश न पारिप्राज्यम इस हेतु से भी अन्य आश्रम में पारिप्राज्य होना संभव नहीं है आदि में सन्यासी बनना होना संभव नहीं है सन्यास धर्म संभव नहीं वहां क्यों कर्मार्थत्व से इतर आश्रम कहा अन्य आश्रम कर्म के लिए हैं ऐसा वृद्धार्थ में सुना है अथ कर्म भी यह ऐसा माना ज्ञानी व्यक्ति ऐसा करता है मैं कर्म करूं जाया में हम्म, सात ऐसा मानता है स्मृति है कहा ठीक है जाया पुत्र वित्त संपत्ति आनंतरियम श्रुतौ अथ शब्दार्थ है अथ कर्म कुरीविया में अथ शब्द कब है पहले पत्नी की मांग करता है मेरी पत्नी हो जाए फिर पुत्र की मांग पुत्र अयम लोग को चाहिए नान्य कर्मणा पुत्र से ये लोग जीतना है ऐसा और फिर यज्ञ आदि करने के लिए दैव वित्त मानुष वित्त मानुष वित्त भी चाहिए गाय आदि चाहिए घृत आदि चाहिए और तो उपासना आदि भी चाहिए ये सब होने के बाद कहता है सारी संपत्ति युक्त पत्नी हो गई पुत्र हो गया वित्त मानुष वित्त से युक्त हो गया अब कहता है कर्मगुरु अथ कर्मगुरु यह उसके बाद होता मैं कर्मगुरु अब माने कर्म करने के लिए संपन्न साधन मेरे पास हो पत्नी हो गई पुत्र हो गया मैं हो गया पांच होते हैं पामता है ना पामता है पांच होते हैं माने यजमान यजमानी पुत्र और दैववित्त मानुष वित्त ये पांच होते हैं पांतर पांत कर्म होता है तो अथ का अर्थ यह है कहा मानी सारी पत्नी हो गई पुत्र हो गया स्वयं तो वही है और वित्त मानी संपत्ति दैव वित्त मानस वित्त के बाद अथ शब्द अथ कर्म कुल भी उसके बाद बोलता है क्योंकि पांच हुए बिना कर्म नहीं हो सकता कर्म करने के लिए पांच चाहिए पत्नी चाहिए पुत्र चाहिए स्वयं चाहिए दैव वित्त मानस वित्त भी चाहिए तब कहता अथ कर्म कुर भी नहीं कर्म करूं ऐसा बोलता है कहा गृहस्थादिशु स्वाश्रम स्थेशु गृहस्थादि जो अपने अपने आश्रम स्थित अभिमान है शिखा सूत्रादि में अभिमान है वो गृहस्थाश्रम वो है केवल मकान गृहस्थाश्रम नहीं होता ये संन्यास आश्रम नहीं है ये संन्यास आश्रम एक धर्म का नाम है ये मकान कोई संन्यास आश्रम नहीं होता ये तो सभी के पास है कि ईटा का मकान संन्यास आश्रम हो तो ईटा का मकान गृहस्थ के पास भी है ये नहीं होता ये धर्म का नाम है आश्रम ईटा पत्थर वाले का नाम आश्रम नहीं होता मुख्य है धर्म का नाम है तो <clears throat> गृहस्थादिशु स्वाश्रमस्थेशु माने अपने अपने अभिमान है शिखा सूत्र आदि में अभिमान है तो गृहस्थादि है वह भी ये है गृहस्थादिशु स्वाश्रमस्थेशु अपने अपने आश्रम स्थित होते हुए ही पारिव्राज्य से दुर्वचत्व करना पारिव्राज्य होना संभव नहीं पूर्वादि ने कहा था अपने अपने आश्रम में होते हुए ही जो एकत्र विज्ञान प्राप्त हो गया वो सन्यासी कहा था वो होना संभव नहीं है कहा गृहस्थादिशु स्थे स्वाश्रम वाले अपने अपने संपत्ति में जिसका अभी अभिमान है यज्ञ पविता आदि में अभिमान है तो वो अभी गृहस्थाश्रम में है वो होते हुए परिव्राट होना संभव नहीं है कहा गृहस्थादिशु स्वाश्रम स्थेषु एवं पारिव्राज्य से दुर्वज पारिव्राज्य होना संभव नहीं वह आश्रम त्यागना पड़ेगा वह अभिमान त्यागना पड़ेगा तो परिप्राज्य होगा फिर तो फिर गिरस्थ नहीं रहेगा उस काल में ये कहा फलितमात तस्मात इत्यादि तस्मात स्वस्वामित्व अभावात स्वत्व स्वामित्व बुद्धि नहीं है जब अपना कोई नहीं है तो उसके मालिक भी नहीं है स्वस्वामित्व बुद्धि अभाव होने से ही भिक्षु एक एव परिप्राण जो भिक्षु का एक ही परिप्राट है न गृहस्थादि गृहस्थादि परिप्राट नहीं हो सकते ठीक है विवेक बसाद यज्ञोपविदाद स्वशब्दार्थे स्वामित्व बुद्ध अभावात बुद्धि अभावात करते विवेक के कारण यज्ञोपवित आदि में स्व शब्द का अर्थ जो स्व स्वामित्व में स्व शब्द यज्ञोपवित आदि है अच्छा तो विवेक के बल पर यज्ञोपवित आदि में स्व शब्द के अर्थ जो यज्ञोपवित आदि है उसमें स्वामित्व बुद्धि अभाव मैं स्वामी हूं मेरे ये है ये बुद्धि नहीं है उसमें इसलिए वही परिप्राट है एकत्व बुद्धि वाला एक न गृहस्थ आदि गृहस्थ आदि परिप्राट नहीं हो सकते ये कहा अच्छा बस यही रखते हैं फिर करेगा ओवाप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्म निराकुर्य मा ब्रह्म निराकरोत निराकरणस्तु निराकरणेषु तदात्मनिरते यौपनिषत्सु ओम शांति